कि सत्य बोलना चाहिए झूठ क्यों बोले उस उस समय की जो साधना है ना उसी ने अंतकरण को निर्माण कर दिया तो यह अनुष्ठान जब बहुत फायदा भी करता है तत्व ज्ञान के आगे भले सत्संग सुनते समय भले जप नहीं करे बाकी तो जब फायदा बहुत करता है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जब से सिद्धि होती है जब से चिंतन से माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्यों बिसरा मोय बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई कोई भी योद्धा बिना हथियार के जाता है क्या युद्ध में ऐसे ही ये संसार के विकारों से बचाने वाला मैं हथियार हूँ माला बोलती है माला मुझसे लड़ पड़ी अभी गले में है ना इसको उतार दूँ तो लड़ेगी फिर माला मुझसे लड़ पड़ी तुम क्यों बिसरे मोए बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता न देखा कोई हाँ तुम तो गले में रखो रहो देवी लड़ना नहीं घुमाते भी हैं आज हमने थोड़ी ज़्यादा माला घुमाई हम्म। खाना पीना रहता है ज्ञान के बाद तो फिर ज्ञान के बाद माला घुमाने में क्या आ रही है ईश्वर मिलने के बाद भी खाते पीते हंसते बोलते हैं तो फिर माला पहले घुमाते थे अभी घुमाने में क्या भारी पड़ रहा है माला नहीं घुमाएगा तो और कुछ घुमाएगा मोबाइल के नंबर घुमाएगा इससे तो माला बली है कुछ न कुछ तो करेगा ज्ञान भी हो गया था नारायण हरी कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं लोगों को भी मजा आता है रोज कनेक्शन मिल जाता है तो कहाँ